नमस्कार मित्रों आज तारीख है 16 सितंबर ये बहुत छोटा वीडियो है स्पेसिफिक मुद्दे पे जो मेरे बहुत कुछ एक वीडियो थे देवी इंदिरा अम्मा के ऊपर कि देवी इंदिरा अम्मा अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई और इनके इनका कंपैरिजन और इनके किए गए कामों पर तो इसके ऊपर एक वीडियो है जो आपको right to recall group channel पे मिलेगा वो है मोरारजी देसाई अटल बिहारी वाजपेयी टाइटल आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा दूसरा देवी इंदिरा अम्मा के और वाजपेयी के कंपैरिजन के ऊपर में एक छोटा पॉइंट उसमें रह गया था इसलिए ये छोटा वीडियो बना रहे हैं वो है कि 1971 में जब अमेरिका की कंपनियों का दबाव आया देवी इंदिरा अम्मा पे कि पेटेंट का कानून होना चाहिए दवाइयों के लिए तो देवी इंदिरा अम्मा ने साफ मना कर दिया कि दवाइयों के पेटेंट का कोई कानून नहीं बनाएगा फिर बहुत दबाव आया तो एक प्रोसेस पेटेंट का कानून उन्होंने बना दिया जो कि ज्यादा नुकसान नहीं करता था यानी कि अमेरिका में कोई दवा की खोज होती है तो भारत कंपनी उस दवाई को बना सकती है बस उसको थोड़ा सा अलग प्रोसेस यूज करना पड़ेगा यानी अमेरिका की कंपनी मान लो बीस डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई प्रोसेस चलाती है तो बीस का इक्कीस कर दो यानी प्रोसेस बदल गई यानी वो आ, काम आ, भारत की कंपनी कर सकती है तो इस तरह से अमेरिका की अमेरिका में जो दवाइयों की खोज होती थी वो दवाई अमेरिका में 10 डॉलर की हो 50 डॉलर की हो उसको वो भारत में 50 डॉलर में बेचना चाहते हो 100 डॉलर में बेचना चाहते हो लेकिन भारत की कंपनी दूसरे ही दिन तीसरे ही दिन वो दवाई 10 बीस पचास रुपए में बनाना शुरू कर देती थी तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बड़ी मात्रा में कांग्रेस के नेताओं को रिश्वत ऑफर की दूसरी पार्टियों के नेताओं को रिश्वत दी लेकिन इंदिरा देवी इंदिरा अम्मा ने नहीं मानी बात और उसकी वजह से फिर सीआईए ने देवी इंदिरा अम्मा को गिराने का प्लान और तेज कर दिया लेकिन देवेंद्र रामा ने जो प्रोसेस पैटर्न का कानून बनाया उसकी वजह से दवाइयां इतनी सस्ती हो गई थी कि बाद में प्रोडक्ट पेटर्न का कानून नहीं आ पाया अब प्रोडक्ट पेटर्न का कानून भारत में लाया कौन जिसकी वजह से दवाइयां महंगी हो गई है तो 25 परसेंट दोष मैं दूंगा अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने 1999 में ईयर 2000 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पहला स्टेज का कानून पास किया और दूसरा जो जाता है श्रेय वो कांग्रेस को 2005 और सीपीएम के नेताओं को मल्टीनेशनल कंपनियों ने हर एक एमपी को 15-15 करोड़ की रिश्वत दी थी ये प्रोडक्ट पेटर्न का कानून पास कराने के लिए ताकि वो दवाइयां महंगे दाम पे बेच सके और कानून भले 2005 में कांग्रेस ने पास किया लेकिन कांग्रेस की जगह यदि वाजपेयी या अडवाणी की सरकार होती तो भी ये कानून बनाने वाली थी जितनी जितनी डब्ल्यूटीओ ने मांगे की वाजपेयी से दो ईयर 1999 में 2000 में 2001 में वो सारी मांग word to word Atal Bihari Vajpayee ने स्वीकार कर ली थी ठीक है कुछ कुछ में छह साल देरी हुई एक साल देरी हुई दो साल देरी हुई लेकिन वाजपेयी ने किसी भी WTO की मांग को कभी नकारा नहीं कभी ठुकराया नहीं जैसे इंश्योरेंस कंपनी का यशवंत सिन्हा ने यशवंत सिन्हा जो कि वाजपेयी के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये स्वदेशी जागरण मंच राजीव दीक्षित जी की आजादी बचाओ आंदोलन को तोड़ने के लिए उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की स्वदेशी जागरण मंच में अच्छे आदमी भी थे जैसे गोविंदाचार्य अच्छे आदमी थे लेकिन इसमें यशवंत सिन्हा जैसे लोग घुस गए तो वो स्वदेशी जागरण मंच के फाउंडिंग मेंबर थे और स्वदे वो और स्वदेशी जागरण मंच ने आरएसएस ने इसलिए उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया ताकि वो ग्लोबलाइजेशन की वर्ल्ड वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ की नीतियों को अमल में न लाए लेकिन यशवंत सिन्हा ने फाइनेंस मिनिस्टर बनने के दूसरे ही दिन साफ साफ बोल दिया कि इंश्योरेंस सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन होगा यानी विदेशी कंपनियों को इंश्योरेंस सेक्टर में आने दिया जाएगा जो काम इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया था कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक भी विदेशी कंपनी नहीं आएगी तो दो 1999 में यह टू के पहले चरण में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये दवाइयों के पेटेंट का यू समझो आधा कानून पास कर दिया और 2005 में जब पूरा कानून पास हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि दवाइयों के दाम महंगे हो गए और उसकी वजह से भारत में कन्वर्जन बढ़ा उसमें बहुत सारे कारणों में से ये एक पेटेंट का कानून है कि पहले मान लो अमेरिका की कोई कंपनी दवाई खोजती है और वो सोचती है कि चलो हम भारत में ये दवाई पंद्रह हजार में बेचेंगे बीस हजार में बेचेंगे तो दूसरे ही दिन एक दो हफ्ते में भारत की कोई कंपनी आएगी वो दवाई 500 रुपए में दवाइयों की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है 100-200 रुपया उसके पीछे रिसर्च में बहुत खर्चा जाता है पर वो रिसर्च का सारा खर्चा तो उन्होंने अमेरिका की मार्केट से रिकवर कर लिया तो अब वो वो भारत की कंपनी भी दवाइयां सौ दो सौ पांच सौ रूपये में बना के भारत में हजार दो हजार में बेचना शुरू करेगी लेकिन पेटेंट का कानून आ गया पेटेंट का कानून आ गया तो वो अब दवाई पंद्रह हजार की हो गई तो गरीब आदमी के पास तो पैसा है नहीं तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती है कि उन्होंने 15000 में दवाई बेच के पर आ, आ, दवाई प, पर मेडिसिन मान लो जो 14000 का प्रॉफिट किया उसमें से वो एक दो इंजेक्शन एक, एक दो दवाई के सैंपल मिशनरी को फ्री में दे देंगे यानी कि उन्होंने भारत की मार्केट में 100 सौ मान लो कि 100 दवाइयां बेची 100 टेबलेट बेची या 100 इंजेक्शन बेचे तो सामने वो मिशनरी को भी पचास सौ इंजेक्शन फ्री में दे देंगे तो जो गरीब आदमी है जिसके पास दस रुपए भी नहीं है वो कैसे दस हजार का इंजेक्शन लेने जाएगा तो वो मिशनरी के पास जाता है मिशनरी उसको दवाई देगा और साथ में दूसरे हथकंडे अपनाएगा और इस तरह से बड़ी संख्या में गरीब आदमी है वो क्रिश्चियन बन गए पर उसमें मुख्य कानून क्या था वो क्रिश्चियन बन गए तो पेटेंट के कानून ने अहम भूमिका निभाई और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि देवी इंदिरा अम्मा ने पेटेंट का कानून पास करने से मना कर दिया था उसने सिर्फ प्रोसेस पेटेंट का कानून बनाया प्रोडक्ट पेटेंट का कानून नहीं बनाया और ये प्रोडक्ट पेटेंट का कानून बनाने में वाजपेयी का श्रेय जाता है थोड़ा बहुत और मेन श्रेय जाता है भले 2005 में मनमोहन सिंह और कांग्रेस सीपीएम के सांसदों का कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने उनको रिश्वत दी थी लेकिन उस समय वाजपेयी के सांसदों ने कोई विरोध नहीं किया था और आज भी वाजपेयी के सांसद जो और बीजेपी के सांसद है वो प्रोडक्ट पेटेंट के कानून को कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे वो प्रोडक्ट पेटेंट के कानून को समर्थन दे रहे हैं आप चाहे तो उन्हें फोन करके पूछ लीजिए कि आप ये प्रोडक्ट पेटेंट का कानून कैंसिल करने का प्रॉमिस देते हो वो उस पर कोई बहस भी नहीं चाहते तो ये पॉइंट आप जो देवी अम्मा देवी इंदिरा अम्मा के विरोधी है मैं हमसे विनती करूंगा कि आप ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए कि देवी इंदिरा अम्मा ने अमेरिका की कितना भी दबाव हो उन्होंने पेटेंट का कानून पास करने से मना कर दिया था धन्यवाद